ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग भाइयों आपने गीत का तो खूब मजा लिया लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस गीत को स्क्रीन पर गाया किसने था भाई ये मालूम करने के लिए मैंने फिल्म्स और फिल्म म्यूजिक के कई जानकारों को फोन किया जैसे नारायण मुलानी और प्रकाश जोशी और माणिक प्रेमचंद और कुशल गोपाल का मगर बात कहीं नहीं बनी आखिर कलकत्ते के एक मशहूर म्यूजिक लवर अनूप गडोडिया की मदद से मुझे पता चला कि पहली तारीख के गुण स्क्रीन पर गाए थे कॉमेडी स्टार मारुति ने और साहब मुझे अपनी लाइब्रेरी से मारुति साहब पर चलाया हुआ एक फिल्मी मुकदमा भी मिल गया जिस पर मारुति जी पर यह इल्जाम लगाया गया था कि आप फिल्मी दुनिया ज्वाइन करने के लिए घर से भाग आए थे हाँ हाँ भाग आया भाग आया और जरूर भाग आया अगर न भागता तो आज यहाँ खड़ा न होता जी बिली मोरिया ई बिली मोरिया ईश्वरलाल की फिल्म देखकर हीरो बनने का शौक जागा और मैं बम्बई भागा असल में तो मैं एक एक्टर बनने आया था मगर सबसे पहला काम मैंने मोटर मैकेनिक का किया फिर मुझ पर स्वर्गीय दादा कोंडीबा की नजरें इनायत हुई और उनके साथ रहकर मैंने मेकअप मैन का काम सीखा होते होते अस्पी ईरानी का असिस्टेंट बनने का मौका मिला और मैं मेकअप मैन से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया और फिर मारुति साहब को छोटे छोटे रोल्स भी मिलने लगे जैसे कि इस फिल्म में जिसका ये गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना पहली तारीख वाला उस फिल्म में किशोर कुमार एक्ट नहीं कर रहे थे मगर मजे की बात ये कि उन्नीस ही की एक और फिल्म ऐसी थी जिसके हीरो थे किशोर कुमार मगर गीत उन्होंने उस फिल्म में सिर्फ एक गाया जो ज्यादा नहीं चला और जो गाना चला वो किसने गाया था जरा सुनिए चल रही चल रहा है जमी चल रही चल रहा है किसके इशारे जहाँ चल रहा है जमी चल रही आसमां चल रहा है किसके इशारे जहाँ चल रहा है जमी चल रही आसमां चल रहा है रही है जमाने की नैया चली जा रही है जमाने की नैया नजर पे न देखा किसी ने की नैया नजर पे न देखा किसी ने की नैया न जाने ये चक्कर कहाँ चल रहा है न जाने जब चल कहाँ चल रहा है कि किसके सारे जहाँ चल रहा है जमी चल रही आत्मा चल रहा है कि किसके सारे जहाँ चल रहा है चल रही आसमां चल रहा है ये रोना ये आशा निरा निराशा समझ में ना आए क्या है तमाशा समझ में ना आए क्या है तमाशा क्यों रात दिन कारवा चल रहा है क्यों रात दिन का रुआ रहा है कि किसकी धारे जहाँ चल रहा है जमीन चल रही आसमां चल रहा है ये किसके धारे जहाँ चल रहा है जमीन चल रही आसमां चल रहा है उन्नीस की छाव वाले गीतों के साथ साथ चलते चलते अब हम एक और बड़े फर्स्ट क्लास गीत के पास पहुंच गए हैं बहनों भाइयों जो मुझे बहुत पसंद है और उसकी गायिका भी मुझे बहुत पसंद है पता नहीं क्यों ये गीत सालाना प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाया बोल पर ये तूने क्या किया परदेसिया ये तूने क्या किया अपना बना के सैया हाय दगा दे दिया बोल परदेस

बात ये थी बहनों भाइयों कि हम उन दिनों गीतों की पॉपुलैरिटी हर हफ्ते दो तरह से नापा करते थे एक तो देश भर के करीब छह शहरों की करीब पंद्रह ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बेचने वाली दुकानें जो हर हफ्ते रिकॉर्डों की बिक्री के आधार पर हमें पॉपुलैरिटी की लिस्ट भेजा करते थे और दूसरे सुनने वालों की साप्ताहिक राय भी हम फरमाइशों के रूप में मंगवाने लगे थे और गड़बड़ फरमाइशों ही में होने लगी थी साहब यानी कई लोग सैकड़ों के हिसाब से बनावटी फरमाइशें भेजने लगे थे तो जैसे ही ये बात खुली तो मैंने फौरन फरमाइशों का सिलसिला कर दिया कट और एक और जबरदस्त तरीका ढूंढ निकाला कौन सा ये अगले वॉल्यूम में सुनिए और अब सुनिए उन्नीस का एक और बड़ा प्यारा गीत जो वार्षिक प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाया आने वाले कल के लीडरों का यानी आज के बच्चों का था वो गाना नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है मुट्ठी में है तकदीर भाली मत वाली आंखों में क्या है भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है आंखों में तो बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है जो मोती मिले लोगे या ना लोगे जिंदगी के आंसू का बोलो क्या करोगे भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे जिंदगी के आंसू का बोलो क्या करोगे भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज हो बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है बहनों और भाइयों आपको याद है उस फिल्म में एक बड़े अच्छे जॉन चाचा भी थे जिनका रोल मशहूर कैरेक्टर एक्टर डेविड ने किया था मगर मजे की बात यह कि डेविड भाई ने बरसों तक अपनी माताजी को ये नहीं बताया था कि वो फिल्मों में काम करते हैं तो एक रोज क्या हुआ ये खुद डेविड साहब की आवाज में सुनिए एक रोज मैं कुछ रात को नौ बजे घर पहुंचा घर के सब बाकी मेम्बरान जो थे वो मेरी एक तस्वीर देखने गए रात को बारह बजे जब घर के मेम्बरान सब वापस लौटे तो वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहने लगे डेविड चाचा को हमने स्क्रीन पे देखा अंकल डेविड ने ये किया अंकल डेविड ने वो किया तो मेरे बड़े भाई साहब को बुलाकर हमारी अम्मा ने पूछा कि नौ बजे से तो ये घर में सोया हुआ है और आप लोगों ने इसको देखा कैसे तो इतफाक से मैं राज कपूर जी के यहाँ काम कर रहा था मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात हुई तो कहा अच्छा तो वो 16 मिलीमीटर बूट पॉलिश की जो कॉपी है मेरे पास वो ले जाइए और अम्मा को बताइए ताकि उनको फिर पता लगे कि आप क्या करते हैं फिल्मों में तो इस तरह जब बूट पॉलिश की कॉपी हमने घर में प्रोजेक्ट की तब हमारी अम्मा जान को पता लगा कि मैं क्या करता हूँ अच्छा भाई वैसे तो उस साल के और भी कई कई अच्छे यादगार गीत हैं जो उन्नीस की उस पहली वार्षिक संगीत सीढ़ी पर नहीं बच पाए पर मगर गीतमाला की छाओ में तो ये वॉल्यूम जो है ना ये इतना खचाखच भरा हुआ है कि अब सिर्फ एक और ऐसा गीत पेश कर पाऊंगा उसी फिल्म का जिसकी एक धुन उन्नीस की पायदान नंबर सात पर थी जो आप सुनी चुके हैं ये वही फिल्म थी जिसकी हीरोइन थी नूतन बड़ी सीधी शर्मीली शरीफ भावुक और बड़ी टैलेंटेड अदाकारा नूतन जिनकी आवाज आज मैं आपको सुनाता हूं अमेरिका में रिकॉर्ड किए हुए एक इंटरव्यू से जो मेरे दोस्त सुभाष बोहरा ने दिया था उसमें नूतन जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई थी अपनी भूमिकाओं अपने रोल्स के बारे में देखिए जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है और नूतन की जिस फिल्म का दिल को छू लेने वाला गीत अब बजेगा उसकी फिल्म का नाम था शबा तेरी गली मरना तेरी गली देकर सुनिए कि उन्नीस से संबंध रखने वाली कौन सी घटना घटी उसके तिरपन साल बाद सन 2007 में देखिए मैंने आपको गीतमाला की छाव में बताया था ना कि चुरू और जयपुर राजस्थान के प्रोफेसर अनिल भार्गव ने एक किताब पब्लिश की 2007 में गीतमाला का सुरीला सफर के नाम से जिसमें उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक की बड़ी डिटेल जानकारी दी है बाकायदा गीतों की लिस्टों के साथ तो उसे पढ़कर मुझे पहली बार याद आया कि अरे उन्नीस के आखिर में जो गीत वाला का पहला सालाना प्रोग्राम पेश हुआ था ना उसमें मैंने सिर्फ आठ नहीं बल्कि पूरे सोलह गाने बजाए थे सोलह वार्षिक पायदानों पर तो भाई जो गीत उन्नीस के गीत वाला में पायदान नंबर 16 से पायदान नंबर 9 पर थे उन्हें मैं आज आधी सदी से भी ज्यादा के बाद पहली बार जनता के सामने दोबारा पेश कर रहा हूँ 1954 का गीत नंबर 16 फिल्म अमर का था और इतना खूबसूरत था कि मैं उसे जरा ज्यादा बजाऊंगा बहन और भाइयों सुनिए अपने जीवन के उन लम्हों को याद करते हुए जिन पर गम छाया हुआ था सौ के गीत नंबर पंद्रह का तो मुझे बस एक छोटा सा हिस्सा बजाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके गाने वाले कवि साहब कुछ लड़खड़ा से रहे हैं हालांकि इनका कहना है कि मैं पी के नहीं आया मैं पी के नहीं आया अरे मस्ती भरी आँखों से दो जाम चुरा लाया जिस फिल्म के गीतों ने संगीत की दुनिया में दो साल तक खलबली मचा दी थी यानी नागिन उसी का एक और गीत था उस पहली हिट परेड के पायदान नंबर चौदह पर जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया बचाइए अभी बस पाँच छह गीत ही सुनवाने बाकी है उन्नीस सौ चौवन के ये रहा गीत नंबर तेरह फिल्म थी चक्रधारी बोलो है जमीन बोलो आसमान कोई तो जवाब दो बोलो रे जबान संगीत उस साल लोकप्रियता के बारहवीं पादान पर पहुंच गया था उसे जरा बच के सुनिए बहनों और भाइयों क्योंकि कभी यार कभी पार लगाती है नजर कभी यार कभी पार लगाती वैसे फिल्म आर पार का ये गीत तो कुमकुम पर फिल्मा गया था मगर इसी गीत की सिचुएशन पर हीरो और हीरोइन का रोमांस शुरू हुआ था जी हाँ गुरुदत्त की फिल्म आर पार की हीरोइन कौन थी याद है ना आपको श्यामा तो श्यामा ही से सुनिए दो शब्द गुरुदत्त के बारे में गुरुदत्त जी बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए डायरेक्टर थे हम्म। और सेट पर जब भी आया करते थे तो बहुत ही तैयार होके आया करते थे हम्म। और जब भी कोई गाना पिक्चराइज करते थे तो इतने खूबसूरत शॉट लिया करते थे देखने वाले हैरान हो जाते थे कि कितने ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं हम्म। और उनके साथ काम करने में इतना मजा आता था और अगर जरा कुछ गलती हो भी जाती थी हमसे हम्म। तो सामने राज खोसला जी एज असिस्टेंट थे उनके हम्म। तो उनको डांट दिया करते थे <laughs> और लेकिन हम लोग समझ जाते थे कि अभी उनका मूड ठीक नहीं है हम्म। और हम सोच समझ के अपना काम जरा सीरियस लेके हम लोग काम किया करते थे श्यामा जी की ये आवाज मैंने करीब उन्नीस के आसपास रिकॉर्ड की थी मगर उसके करीब तैतालीस साल बाद जब मैं उनसे दोबारा मिला तो बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि उम्र काफी बढ़ जाने के बावजूद उनमें वही शरारत वही ताजगी वही मजाक है जो पहले था ऐसे लोगों से मिलकर दोनों भाइयों जीवन में उसी तरह के उजियारे खिल उठते हैं जो उन्नीस के पहले गीत वाला एनुअल प्रोग्राम के गीत नंबर 11 में खिले थे चमका चमका सुबह का तारा गया अंधेरा उजारा चमका चमका सुबह देखिए फिल्म का नाम तो गीत ने बता ही दिया सुबह का तारा सुबह का तारा वरना भाइयों याद रहे उन्नीस के पहले गीतमाला एनुअल प्रोग्राम की सोलहवीं से लेकर नबी पायदान के गीत आज करीब 55 वर्षों के बाद मैं पहली बार पेश कर रहा हूँ उस साल की वार्षिक संगीत श्रेणी पर जो गीत पायदान नंबर 10 पर था ना वो तो आ हा हा मेरे ऑल टाइम फेवरेट गीतों में से एक है मैं ये चले जाए से कहीं तो ये अपार अनंत ला इंतहा प्रेम का संदेश मुझे संस्कृत की वो कहावत की याद दिलाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम यानी सारा संसार एक परिवार है और सारी दुनिया को हमें हमारा अपना और सबका एक घर समझना चाहिए मगर अफसोस गड़बड़ यही है वरुण भाइयों कि आजकल लोग न संसार को अपना घर समझते हैं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए तो अपना एक छोटा सा घर भी बस सपनों में ही नसीब होता है छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में आशा दीवानी मन में बंसूरी बजाए हम ही हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में आंखों की रोशनी दम ये समझाए छोटी कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में आ रे आ रे आ रे आ छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में आशा दीवानी मन में बंसूरी बजाए फिल्म नौकरी का ये गीत था उन्नीस की नवी पायदान पर और उस साल की ऊपर वाली आठ पायदानों के गीत तो आप आज के वॉल्यूम की शुरू में सुनी चुके हैं बहनों भाइयों तो बस अब बड़ा मुश्किल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा आ, थका देने वाला काम हुआ खत्म और इसमें जो भागना दौड़ना हुआ और गीतों को पूरा न बजाना हुआ उसके लिए आपका भाई या अंकल या दोस्त जो भी कह दीजिए अमीन सायानी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है कर दिया ना आपने माफ है हो गए ना आप खुश मुझे आप कोई गाली वाली तो नहीं देंगे ना अरे कुछ बोलिए तो चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे राम के जिंदगी के दिन गुजार दे थैंक यू चाहे कोई पुष्प चाहे गालियां हजार दे हर मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे चाहे कोई पुष्प चाहे गालियां हजार दे हर मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे भी करूं तो मुझको जेल भेज दो तू बिलाल ने दिया तो गम न कर पावगर बना बिलाल ने दिया तो गम न कर अरे खाए जाम दे के साथ जब तलक उधार दे खाए जाम दे के साथ जब तलक उधार दे पावगर बना बिलाल ने दिया तो हम न कर खाए जाम दे के साथ जब तलक उधार दे चाहे कोई कुछ हो चाहे गालियाँ हजार दे अरे बच्चा बन के जिंदगी के दिन गुजार दे